पवित्र श्रीमद् भागवत गीता पवित्र चारों वेद पवित्र कुरान शरीफ पवित्र बाइबल पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन और उस समय तो उसका वो नशा हुसैन का छोड़ देखी जाएगी कि यदि किसने देखा ये और भी तलाक उसके से और भी क्रम इन बतेरे वहां पर मिल गए अब जब वह पूंजी खत्म हुई समय खत्म हुआ तो धर्मशाला वालों ने सराय वालों ने कमरा ले लिया वापस नो बोला भाई चाल थारे सेठ ने इतने दिन के पैसे जमा करा रखे और ये अवधि दे रखी थी अब हम एक मिनट नहीं रखा तड़के अपने गुजरा ने ठा ले जा अब सुबह नहीं ठाया उसने ठा के उनके बिस्तर बार बगा दिए क्यों पैसा दोनी रही नहीं अब वो दोनों मुंशी वापस आते हैं एक तो जो कमाई जोड़ के और समय समय पर सेठ के पास भेजता रहा और एक भगत जी नीची नाड़ करें आवस किराया भी मांग के लाया होगा पड़ोसियों आकर सेठ ने बोला हाँ भाई हिसाब दे भगत जी मुंशी अब हिसाब के में ले रहा होता देनी नाड़ कर लिया पैसे ले गया था वो सा वो करड़ा करड़ा बोला जब ने बोला मन तक खर्च दिए ने बोला भाई आप तेरे बाप की पूंजी ना थी या पूरी करनी होगी चल पलदार लाग जा मेरी पूरी कर दिया तुम छोड़ू यानी मुंशी पद से हटा के पल्लेदारी का काम दे दिया और जब छोड़ूंगा जब मेरी यह पूरी पूंजी कर देगा अड़कर बेटा काम और दूसरे को जो है तरक्की दे दी और मुंशी रखा और साथ में और भी व्यापार दे दिया तो भाव ये से कहने का कि महाराज भी कहते हैं कई संता का भी एक शब्द आते हैं कि छोटे सेठ की पूंजी को ना या मुल की लाट पे तैली या को मामूली की पूंजी को ना मनुष्य शरीर और सांस कदे न सोचे छोटे मोटे साहूकार पे ले रहा और दब डका दिए कौन धंधा ना उड़ा तो बक्कल तारा का और भाई पूरी करवाओगा फिर वो जाकर यहां से जो बिना कमाई नाम की किया हुआ जीव जाता है तो उसको ये धर्म राय काल नो कैसे बेटा हुआ पूंजी पूरी कर मेरी अरे गधा बन जा कुत्ता बन जा गधा कुत और इन दूसरी दुनिया भेज देता है मनुष्य रूपी मुंशी आड़ी सीट नहीं देता तो ये सतगुरु कबीर साहब और गरीबदास जी का प्रमाण सुना तो कहते हैं कि द्वादश वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करा तरुणी नारी से गरबारी तू चल मूल गवा फिर कहे रातों सोवे जन्म बगोवे धोंदी खेत कमा और भाई बिना बंदगी बाद बहत तेरा जन्म अकार था बिना नाम के बिना ईश्वर स्तुति के और तेरा यो जन्म अखारथ अकारथ कहते हैं जो कति किसी काम ना आवे फिर कहा कि काले काग गए घर अपने बैठे सीत बुगा अब अध अधेड़ उम्र होगी आधे से ज्यादा सफेद बाल होगे अब भी चोट नहीं बन रही के तू लवे लाग रहा से रोजाना एक कदम अपनी मौत की तरफ अपनी सियात की तरफ हम रोजाना जान लग रहे पर भय नहीं मान रहे भय उसने माओ मानेगा जिसने सत्संग रूपी गंगा में आकर अपने अंतकरण को दो रख्या होगा उसको रात दिन चौंट रहेगी कि एक दिन और गया भाई और अजगर रूपी मौत अजगर रूपी काल तेरी सात नो मुंह बाए खड़ी सा कि एक बार जाइयो समय और जब गड़प दूंगा और हम एक दिन रोजाना उसकी तरफ जा रहे पर भय नहीं बनता गात में तो सतगुरु महाराज कहते हैं बीरा बहुत गलती पर है ख्यास कर ले ये सदा नहीं रहे जिसने तू तो सत मान रहे कति असत है तो कहते काले काग गए घर अपने बैठे शीत बुगा और जाड़ दांत तेरे उखड़ गए या जीव गई तो तड़ा जब जाड़ दांत नहीं रहेंगे ना जब कहेगा कि मेरा गिलास लाइए और गिलास की कंधे और राछ लाइए वो पोता छह बाबू जा राछ के एक राछ लाऊ अलग गिलास को छू जब उसका समझ में आयो गिलास कह है कि मैं राज कह से अर्थात वह जीव क्योंकि दांतों की विशेष व्यवस्था से वो पूर्ण शब्द उच्चारण होते हैं क्योंकि इनके साथ मिलती है करके तो महाराज कह जाड़ दांत तेरे उखड़ गए या जीव रसना गई तो तड़ा और भाई जम किंग कर तेरे शराण बैठा यू खर्च कर दे का खा वह एक हफ्ता पहले मंडरान लाग जाकर घा बेटा गिण दे सांस सेट देसी और दिखते से नहीं और वो अरोबिनोकार रमरा तक मैं घर तो मोह साठता जा रहा से और मन तक मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं भी क्यों वो आके एक आधा सुआ ला जाए बीच में रात ने दिख जाएंगे कदे दिन में वैसे घबराहट सी कर देंगे तो कहते हैं जम किंग करियम के दूध तेरे सरहणे बैठे खर्च कदे का खा और रसना बीच जो मेख मार दे फिर सेना दाम बता तेरी जीभ पे आंधे ही वैसे यानी मेख मार देंगे तेरी जुबान बंद कर देंगे तो कहते हैं फिर क्या होगा जबान जैसे मरता है ना कोई उसकी जबान बंद हो जाती और जबान बंद हो जाने के बाद सांस खेच खेच कर लेता है तो क्या होता है बच्चे आसपास आ बैठेंगे बाबू तो मरण लाग रहा है अरे कहेंगे पिताजी पिताजी पिताजी वो बोला जा उसका भीतर लाग रहे मोगरे ठोकण और टट्टी पेशाब निकल रही उसकी डरते की और घना ठाठे बोले जब तो एक बाख्या नौकर आगरा है और फिर वो उनका आप घना बोले जब नौक बोला नौकरण लाग गया खोल के हबु ने सोची कि पिताजी दौरा सुना था कि घना धंस है अरे बताना चाह है पर बता नहीं पानता कोई इसका इलाज करवा दे कहते एक डॉक्टर ऐसा था वैद्य की एक दवाई दिया करता जिस तय वो पांच सौ रूपये ले था सांस नहीं बढ़ा सके था जितने दो चार दस सांस रह रहे थे उस समय उसकी जीभ ने ठीक कर दिया था वो बोल सके था कुछ अक्षण के लिए <clears throat> उसने गए बुला के गांव में था जो बोले मारा पिताजी मरे से एक बार बुलवा दे और कुछ पैसे उसने बहुत दावे रखे बताना चाहे पर बोल नहीं सकता वो गया उसने पुड़िया प्यादी भीतर जानते हैं वो एक बार ने उठा उठ कर बोला पिताजी जल्दी बता दे किस ताई दा, कि दाब रखे है किसको दे रखे तेनो बोला रहा मैं तो नो को था यू बछड़ा झाड़ू खास है बछड़ा झाड़ू चाबे था अरे इसने छुटवा लो बेटी के बाप की तुम्हारे गे तुम नाश करोगे के तो छोरे ने बोले तन्ना कर दिया नाश तो या चार की झाड़ू और पान सम पड़गी मारे तो ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ भी समार गया भाव ये है कि मरती आना हमने माँ बाप की चिंता नहीं बुढ़ा का हो रहा अमरनाथ से पर कहेंगे कि मैं और झाड़ा ले रहा हूं तो वो दे जा महाराज जी कहते हैं कि घर के प्यारे आदमी तो ना चलते लेंगे लूट जिनके ऊपर तू राजी हो रहा तो इस प्रकार कहते हैं कि यम किंग रसना बीच जो मेख मार है सैनो दाम बता फिर इशारों तो घर में धरा हुआ धन बताएगा फिर क्या बताया सतगुरु महाराज ने कि कुल के लोग जंगल में ले जाकर तो या ठोक जड़ा अब नो कहेंगे उसकी गति कराए बंदी छोड़ने का है गति कराए दुर्गति तो शुरू होगी उसकी कभी गधा बनेगा कभी कुत्ता बनेगा कभी सुअर बनेगा कभी बैल बनेगा पता नहीं कितने जिस जिसके ले रहा था सबके पूरे करेगा और जब उसकी फिर कदे लाख वर्ष में पांच हजार वर्ष में फिर मनुष्य दुनी मिलेगी मनुष्य जन्म मिलते ही फिर वो है प्रक्रिया जैसे कि आज हर मनुष्य जाति वाले में हो चुकी है कि भी बच्चे ना हुए जब दुखी हो गए जब दुखी और ना ब्याह ना गए जब दुखी ब्याह पाछे न सोचा छोरी ब्याह दी नफराम हो गए और लड़की का लड़का बालक ना होया जब रात ने नींद आनी बंद हो जा माँ बाप ने तो इस प्रकार वो इतना काल पा जा कि मर जाएगा पर इसके सर पर तो सोमन वजन नहीं उतरदा ये सतगुरु महाराज का पर हम इस सोमन वजन ने खेचन के आदि बन गए अभ्यस्त हो गए इस दुख को हम दुख है नहीं समझ रहे मर गया तो भाई मर आए करें छह महीने रो पीट कर फिर सबर करेंगे दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे तो महाराज कहते हैं इस काल ने इतना गजब व्यवस्था बना रखी है कि इस जीवन आंख नहीं खुल जाए इसकी आंख खुला करें पूर्ण संत कबीर साहिब की शरण में जो उनका सत नुमाइंदा होगा सच्चा नुमाइंदा सत मार्गदर्शक होगा उससे नाम लेकर के और फिर आप देखो आपको सुख भी होगा आपकी जो भक्ति भी बढ़ेगी और आने वाला समय आपका सुखदायी होगा परलोक सतलोक प्राप्ति होगी कहते फिर पीछे तो कुल के लोग जंगल में लेके दीना ठोक जरा फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना भाई चार पैर जंगल में डोले तरा तो नहीं उधर भरा बैल बन जाएगा तो देखो हम सारी चीज खावे भाई अलवा भी खा लें पूरी भी खा लें चाय भी दूध भी और भी सेब भी किशमिश भी सारी चीज खाते हैं पर लोग कहें जब ये जन्म नहीं रहेगा तो पशु जुनी में जागा उस समय ये नहीं मिलेगा कितना बैल बनेगा तो कहते चार पैर जंगल में डोल तरा तो नहीं उधर भरा अब तो सुत्या उठते रोटी चाहिए से घंटे दो घंटे पाछा जरूर मांग लेगा उसको भी भूख लगती है पशु को और हाड़ी जब अच्छा तेज काम करने का समय हो से भाई तड़ाके की जो सीजन आता है बुआई का उस समय कई बार हाड़ी थक जैसे सुबह उसको चारा नहीं डाल सकता और नो सोचा से खेत में ही बाजांगी भाई थोड़ी सी देर में रोटी जब उसके साथ चारा आवेगा वहां खुआ दूंगा वहां नो दिखेगा रे मड़ा सा ही मच्छी करके ले काम न और कदे ये रह जा बिना बोए और बात बिगड़ जा उड़ा उसका जल्दी जल्दी डंडे डुंडे मार कर अच्छा काम लेगा और उसका जी करेगा क्यों आज भूख लाग रही से आसपास हरी भरी खेती होगी भाज भाज कर न्यो खाया कर मुंह मारने की कोशिश करता है हाड़ी उसका जो है जेवड़ा खेचेगा और ऊपर तक डंडा मारेगा चल सीधा आख्यामा का पानी पड़ता है और भूखे न चलना पड़ता है एकता हम सत्संग मानते हैं बिनो शर्मा संग देखांगे उड़ा के सत्संग लाग रहा है रोज का काम सही तो हम रोज का काम रोज करें से घर में भी रोटी रोज खावा जंगल पानी रोज जावा नहा धोई करें काम वही करें झाड़ू का बुहारी का गोबर का एक दिन भी आलस नहीं मान दे पर राम नाम में जरूर मान जाएंगे इसने था हम एक वैसे रिजेक्टेड सा काम समझ रहे जो कि एक नंबर पर चाहिए था अरिश्ता हमारे वो सौ काम सरेंगे जो कि भी सूत में नहीं आते जिस काम ने बारह गामा की पंचायत नहीं सुलझा सकती उसको बंदी छोड़ एक मिनट में सुलझा दे इनमें वो शक्ति है तो इस प्रकार हम असली आश्रय को भूलकर नकली आश्रयों पर आश्रित हो गए जिसकी वजह से हम दुखी दुखी होते जा रहे हैं सुखी नहीं हो पा रहे तो फिर क्या हुआ कि फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बना भाई चार पैर जंगल में डोल तरा तो नहीं उधर भरा सर पर सींग दिए मन बोरे दूमत मच्छर उड़ा अब मच्छर लड़े ना आध घंटे तक उस मच्छर के लड़े हुए स्थान से हाथ नहीं हटता जो खाज करें जावांगे फिर बोर्ड क्या करेंगे फिर उसको यानी जब तक वो शांत नहीं हो लेगी अंदर जो जहर उसका मच्छर का था तब तक हम उस पर हाथ रखेंगे और कहें जब बेराना कितने को मच्छर लड़ेंगे अब तो हम टिक्की का प्रयोग कर लेते हैं मच्छरदानी लगा लेते हैं पंखा कूलर का प्रयोग करते हैं फिर महाराज कहें ये असुविधा तुझे हो जाएगी मनुष्य जन्म भी नहीं रहेगा और मनुष्य जन्म नहीं रहेगा तो ये सुविधा भी नहीं रहेगी तो कहते हैं शर पर सींग दिए मन बौरे भाई दूम तय मच्छर उड़ा दूम कह पूछड़ ने और फिर कर्महीनता के कारण मेरे जैसे निर्भाग की वह भी कट जाया करे किसी में कर और फिर एक बिना तीन न्यू कराया करो क्यों कोशिश दर्द तो मच्छर का मक्खी का तलील का चीचड़ का ज्यो का क्यों बना हुआ है पर वो उसको हटा नहीं पा रहा तो महाराज कहते हैं बंदी छोड़ ये दुख बेटा तन होंगे मान चाहे मत मान अब जिसने मान लिया जैसे बचपन में ज्ञान दिया जाता था कि भाई तो अच्छा पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाएगा उसको सुविधा होगी अच्छी नौकरी होगी तनख्वाह होगी कार होगी कोठी होगी नौकर होंगे मुंह में तो जो वस्तु कहेगा वही उसको उपलब्ध होगी इतना सुख होगा किसको जो बारह तेरह चौदह साल अच्छी तरह मेहनत करके पढ़ाई कर जाएगा जिन बच्चा ने इस बात को सत माना और उस सुनी हुई बात को कैसे सुख होगा ये लोभ किया तो आज वो व्यक्ति वो भगत वो अपना ऑफिसर बनकर वो सुख भोग रहे और जिन्होंने काना पर घटाड़ा देखी जाएगी किसने जो ख्या आज वो पल्लेदारी पाड़ी जमींदारा और भी मतलब भाई किसी का मेहनताना ताना मजदूरी आज वो व्यक्ति कर रहे हैं इसी प्रकार जो आज सत्संग में बताई गई बातों के ऊपर उस बच्चे की तरिया पूर्ण विश्वास कर लेगा कि जो मार्गदर्शक से यो कोई बालक नहीं है और ये बता रहा से ये बात हमारे फायदे फायदे में है कहूं तो बता नहीं रहे ये तो ये विश्वास करके जो आज अमल करके इसको पूर्ण रंग डाला देगा तो वो सुविधा होगी जिस प्रकार पहले उन स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को बताई गई थी उनको हुई तो इस प्रकार कहते हैं कि ये दुख होगा तुझे सिर पर सींग दिए मन बोरे दूमत मच्छर उड़ा और कंद जुआ जोत कुआ फिर कौंदों का भूसका कौंदों का यानी जौ होते हैं जौ के तूड़े में इतने बड़े बड़े तुस वह सुए से होया कर और पहले गाया करते वैसे पान आते है टेम्परेरी सा और उससे तो गवाया करते और कौन सा और गाव था वो पहले तो पान फोड़ते उसके आने और फिर वो खांदा जब मुंह न फोड़ते अरे वो कित गई मैं सीरो टीगी मैं गिच करके खाया करता अलवे खाया करता शराब पिया करता पूरी होगी कुछ तो इस प्रकार और वो तस्क जब खाया करता फिर उसके मुंह न फोड़ते राख्या का पानी पड़ता भूखे मरते न खाने पड़ते इसलिए बंदी छोड़ कबीर साहेब गरीबदास जी व सर्वसंत हम ये मार्ग दर्शन करते हैं बीरा दोगड़ी भगवान भी बजा करो देखियो समय बार बार नहीं मिलेगा फिर कहते हैं फिर पीछे तू खर की जगह खर कहते हैं गधे को कुरड़ी चरने जा और टूटी कमर पजा हुआ चढ़ तेरा कागा मांस किला अब ठीक है कि फिर तू गधा बनेगा बीरा और देखो कितना दुख होता है एक पशु के एक दिन की दिनचर्या आप देख लीजिए कालजा बाहर खड़ा हो जाकर एक बिलात खालजा खड़ा हो जाता हमारा तो हो जाए भाई और काम कंधे नहीं पहले तो हम भी ने नहीं ज्ञान था कुछ भी कह दिया करते जब जानकारी होगी जब नो पता चल गया कि यह आग फूक देसा ही बात कोई ना लानता तो वो गदा जो से नीचे तत ले जागा कच्ची ईट पजावे पे और बहुत ऊंचाई पर चढ़ना हो सके कई बार पैर फिसल कर सजा बोरा गेड़े काट्या कर पड़ जाता है बेचारा फूट जाता है बहुत दुख पावस है और ऊपर जाकर फिर पक्की ईंट ले आकर नीचे तारेगा एक सेकंड की भी उसको फुर्सत नहीं मिलती इबता तो हमने कहा सा भाई फुर्सत नहीं सत्संग में जाओ की किसी ने कह दे भाई टेम नहीं से पहले फुर्सत का करते टेम कहने लागे टाइम कहने लगे भाई समय नहीं है तो यह फुर्सत तो भाई काटनी पड़ेगी पर फिर कदे नहीं मिलेगी ईब तो मिलगी सो मिलगी थोड़ी बहुत फिर कति नहीं मिलेगी एक भगत था उसको एक सत्संगी ने कहा करता कि भाई आजा सत्संग में चाल दो घड़ी भगवान की चर्चा सुनावा नो कंदा भाई फुर्सत कोई छोटे छोटे बच्चे न को नहीं छोटे जाते काम यार सारा चौपट हो जाते हैं तो फालतू सा आदमी समझदा सत्संग में तना तो नाश करना अपना कर ले अरे कुमानते कुमानते पूरा ना पटता तू नो का सत्संग में चाल यानी पांच सात बार कहा रख ले ये नहीं रख पांच सात बार कहा पर ना मान्या उसका दो चार साल पाछा देहांत हो जासा जो नो कहा करता फुर्सत नहीं और ये तो हमारे ही दो तीन साल के पीरियड में भी हमारे सामने ऐसे भगतन चले गए जिनको हम बहुत समझाया करते पर नाम लेने की रुचि नहीं बनी और पता चला रहो तो मर गया फलाना भाई परसों पता चला भाई वो मर गया फिर पछतावा बनता है कि उनका कसूर नहीं उनके माड़े कर्म उसको इस तरफ लगना नहीं देती चल जितना समय था दो घड़ी ईश्वर याद कर जानता कुछ तो गेल जा हो अरे जो का तो जा खड़ा हुआ तो वो शरीर त्याग गया जी नो क्या करता मनो फुर्सत नहीं अब उसकी ठाक है जनाजा चले उसकी लेकर अर्थी शमशान घाट की तरफ चले तो वो भगत भी जो कि सत्संगी था ईश्वर उपासक था वो भी गेल हो लिया अब और तो नौके हैं भाई राम नाम सत्य है सत्य बोलो गत है और वो जो कह दे आज भाई ने फुर्सत है वो फिर बोले राम नाम सत है सत बोले गत है वो फिर नो कह दे आज भाई ने फुर्सत है एक नो बोला रे तू अच्छा बेवकूफ से सूर बोले ने जो बोला इस तो सुथरा और के बोलू इसने मैं रोज नो कहा करता रहा भगवान के नाम पर दो घड़ी चला कर ये नो कहा करता मैंने फुर्सत को नहीं आज इसने परमानेंट फुर्सत होगी और जिन बच्चों को नो कहा करता भूखे मर जाएंगे मेरा बिना काम नहीं चलेगा और उनने भी छोड़ चला तो इस चौंद ने तोड़न खातर सत्संग की आवश्यकता पड़ती है देखो काम में कति आंट नहीं लगती है हमारा भूल से हम होका पीवे हैं एक होका पीने वाला एक बार के होके में आध घंटा कम से कम खर्च करे कम से कम और समस्या में तो डेढ़ डेढ़ घंटा लाग जाए उसका पहले जो है ना आग दरेगा क्यों सी सिलगी पावे थोड़ी बहुत कसफरी ही दरेगा फिर मारा गुड़गुड़ घड़िया आंटी लाग्या रहेगा नु सोचे छलगेगा वो ना छलगा उसने फेर धरेगा और बना होगा फू फू आख्या में धुआं पड़ता है फेर दरेगा फेर देखेगा आनंद नहीं आया दूसरा फेर भरेगा क्यों आनंद जब आओ जो भीतरते हैं इसकी वजह जगह पूरी हो ले हाँ ये तो छक लिया खूब अच्छा वो मनमाना चाहे एक घंटे में फैसला उसका रोकेगा चाहे डेढ़ घंटे में हो जब वो काम लागे और एक भगत दिनों का था मैं बीस बीस होके पिया करता रात ने दस होके थे मैं जब रात कितनी बड्डी हुआ कहता उसने बोला मैं रात ने सोया नहीं करता लोग ने कहा करते रहे तेरी सारी रात बड़ा टाना बंद होता वृद्ध हो रहा था है अभी वो मनोहरपुर गांव का बूढ़ा जब उसने ज्ञान होया तो कति छोड़ दिया पाठ करवा लिया उसके बच्चा ने भी नाम ले लिया बोला जी कति मतलब अस्सी प्रतिशत स्वर्ग तब ने इब्बा हो लिया जिस दिन धोखा छोड़ दिया से जब इतना सुख अरियो मैं छक पचलिया को भगवान आके नो कह दिंदा ना तो भाई ओका छोड़ दो मैं जब नहीं छोड़ू परी बेरा ना के मन में रुचि ना बनती पड़ोसी ने भी धमका दो देख भाई ओका पीना अपने घर ने पी ऊ लाड करने मेरे दो राजा बैठ दो गरी भाई प्यारा समझा तो ओके नहीं प्यारा समझा था ओके इनो कह लाग गए बोला तू मेरा और अच्छा हम तभी फिर आना बंद करांगे मैंने बोला भाई तीन सौ साठ रुपए तुमने फिर मेरे प्रेम किया था तन तो मेरे कड़ुए तुम्हारा तो प्रेम था मैं <laughs> मिला कोई नहीं तो भाव ये से कि अगर प्यारा होगा तो आवेगा वो केत प्यार से तो तेरा प्यारा भी नहीं से कई नौका बैठक बिगड़ जाएगी या बैठक तो ना काल बिगड़ेगी कुत्ते बन का गली मान डांगे जब बैठक बिगड़ेगी और वह बैठक में गेल होका पीणिए वह भी उड़े कूतरू बनेंगे वह सब तो पहला क्यों तो बोधा कूतरू बन गया तो कान पाड़ेंगे गोड टूक का ऊपर जब तक हो गए तो बरले कड़ुआ होका तो भाव ये सह के इसको ये कर यथार्थ समझाएंगे संता की बात न तो विकार जाएंगे छूट और हम यूं समझेंगे इसने झूठ तो फिर कड़ मतलब इसमें जो है ना सिर फूटे फूटेगा अगर जितना दुख पशु को होता है तो इस प्रकार भैया फुर्सत फिर पशु बने पाछे भी ना मिले फिर तो कति नहीं मिले क्यों अड़छोटते छोड़ देगा अड़ी तो फिर चीचड़ खाएंगे कलील का दुख माखी और माथरा का दुख तो बहुत कष्ट होगा चमासे में चोरी में पड़ना और पानी गारा में का गाड़ी गोडे गोडे गारा में खींचनी तो ये तंग बाग ये दुख हमने करा कई बार भोग रखी आज पहली बार नहीं जैसे उस दिन शुरू वाला दिन बताई थी कि कोट जन्म तो भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे तो कुकर कुत्ता सुकर शुअर खरगदा कुकर शुकर खर बया बोरे कि कौआ हंस बगारे क्या कितने जन्म भोग लिए एक थोड़ा सा सुथरा जन्म मिला और इसने हम अपनी होशियारी अपने आप में बहुत जानकारी बना लिया सा क्यों दो चार को सुन दिया कि भगवान निर्गुण है भगवान निराकार है चार बात सुन दी फिर बोलन दिन देनी दूसरे ने ये दो दिन के खेल से संतान जो मार्गदर्शन करा क्या उसको अच्छे ढंग से सुने विचार करें फिर ये सत्य सौ का सौ सत्य है चाहे हमने वह सारी झूठ लागती हो पर ये सत्य है हाँ, हमारी बुद्धि कहां तक काम करे से बुद्धि क्या चीज है एक कंप्यूटर का काम करती है जितना मैटर हमने इसमें भर रखा सुन सुनाई थे अपने जैबर बटन दाबोगे वो रिजल्ट कंप्यूटर उतना ही देगा इसी प्रकार उसमें दूसरा मैटर जब बदल दिया जाएगा तो वो अपने आप रिजल्ट भी बदलेगा तो हमने जितना भर रखा से उस फालतू बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती जब तक हम पूर्ण ज्ञान नहीं उसके अंदर और डाल देंगे तो कहा कि फिर पीछे तू खर जयगा कुरड़ी चरने जा और टूटी कमर पजावे चढ़ तेरा कागा मास गिला बोरिया तो वह कड़ फूट जा कमर और कुमार अंते तार का बोरा एक ठोकेगा कुड़े पर डंडा नुका चल छक्का कुरडिया पे उड़ा काग कौवे पाओगे बैठे और उसकी उस टूटी हुई कमर के ऊपर हमने बैठे देखे कौआ गदा देखे एक बार नो कर नो कर फिर भूख लाग रही वो खावा और काग की तो डाक रहे ना थोड़े बहुत करणते वो तो बहुत टेढ़ा पक्षी है कति मतलब दोहरा जो कति ले गदा जब तक बेशक थोड़ा हन्यो हो जाए न नहीं करे तो ये कष्ट अपाना बहुत भोगी है तो इस प्रकार उस आगे कहा कि <clears throat> सुखदे ने चौरासी भुगती कहां रंग कहां राय और ऐसी माया ना राम बलि की नारद मुनि भरमाए नारद मुनि तो बहुत बड़े संत हैं और ईश्वर के बहुत नजदीक हैं और उसका भी सागदी गेट बनाया था भगवान विष्णु ने कि वो उसकी तब अभी सुनाएंगे आपको कथा अच्छा इससे पहले सुखदेव ऋषि जो की बहुत बड़े योगी हैं उन्हें अपनी आत्म कथा बताई थी कि एक बार गद्दा बन गया और वो भी अंधा एक नाले में पड़ गया कुमार ने दिया छोड़ मेरे मालिक ने और वहां पड़े पड़े न को डनिया नहीं आया क्योंकि गांव से चार पांच किलोमीटर की दूरी पर वो नाला था फंस गया एक का दुक्का आवे वो काट नहीं सकता उस पर लकड़ो भी नहीं विचार करे भी तो निष्फल मेरे ऊपर पार रखे और चला जा यानी पुड़ी बना ली सात दिन में मरिया अब मुझे वो दिन याद आवे सब भाई मैं एक सेकंड भी नहीं कहते सुखदे न चौरासी भुगती बना पजावे खरगो और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ वो तक तू क्या इसे बड़े ऋषि की याद रुकती तू कौन से खेत की मुड़ी रहे नाम लेकर अपना कोबत छोड़ दे सच्चा रास्ता पकड़ा ले एक बार नारद मुनि में अभिमान हो गया कि मन ने माया जीत ली विष्णु भगवान द्वारा गया कि महाराज मन माया जीत ली अब बहुत अच्छा कराया बेटा अब विष्णु जी ने सोचा कि छोरे मत लड़के में अभिमान हो गया क्यों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी और ये तीनों बाईस से ब्रह्मा विष्णु महेश आज आपको हम बतावेंगे यथार्थ सृष्टि रचना जो कि सारे शास्त्रों को मिलावेगी सब पुराणों को मिलाओगी जिसमें गथोड़ रखा सारा सामान यानी यो गदला रखा ज्ञान उलझ पुलझ कर रखा <clears throat> वो बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी ने बिल्कुल सत जो का चो बना रखा है पर इन माँ आखिर में जाकर ना समझ माए जब ना पे जोड़ रखा अपने हिसाब वो गलत से <clears throat> तो वही विष्णु भगवान ने सोची कि इसमें हो गया अभिमान अभिमान रियो बिगड़ा क्यों चार जबान सिद्ध हो जाए मेरा कर्ण तन्यो हो गया ओ हो मत सिद्ध बन गया और दस साहब करनिया आ जाएंगे कि ले भाई तेरी तो चौधर ये सब तो पहला लेकर डूबण का काम से यो अभिमान करे बिना रह नहीं सकता जीव का यो काल ऐसी व्यवस्था है <coughs> तो फिर क्या हुआ नारद नारद जी से कहने लगे भगवान विष्णु कि भाई नारद जी चाल अगर चलना चाहता है तो मैं दूसरे लोक में जा रहा हूं नारद जी ने सोचा तू अड़ बैठा बैठा के करेगा चल भगवान गिल घूम तो वहां चला जाता है रास्ते में जाते जाते एक बहुत बड़ी नदी आवस है बहुत सवत जल की भगवान विष्णु कहने लगे भाई नारद जी आप यहीं खड़े हो मैं पानी पी का आऊं मैं जल पीना चाहता हूं तो नारद जी कहने लगे महाराज जी जल मैं लाऊंगा आपके लिए अब लाऊ करमंडल आप यहां खड़े रहो महाराज मेरे होते और आप ऐसे पी काओगे पर भाई एक काम करिए स्नान करके लाना ना कह और फिर भर के ले अच्छा जी अब क्या किया कि नारद जी ने अपने कपड़े उतार के नदी में छलांक लगा दी स्नान करने के लिए और जो ही बाहर आए नदी से एकदम सुंदर लड़की का रूप बन जाता है और भूल जाती है कि तू कौन था कहां से आई है उसी नगरी का राजा टहलता हुआ शाम के समय वहां आ जाता है एक बहुत युवा लड़की खूबसूरत को देख के राजा उसके पास जाता है कहता है कि सुंदरी तू यहां कैसे वो कहती है जी मुझे मालूम नहीं मेरी यादाश्त काम नहीं करी मैं कौन सू और कहां से आई सू इतने सुंदर रूप को देख करके राजा ने सोचा कि ये बेचारी कहीं और इसकी कोई मिट्टी पलीत करेगा क्यों ना इसको अपने साथ ले चलू राजा की कई कई शादियां हो जाया करती थी वो ले जाता है उसको अपनी पटरानी बनाता है बहुत सुंदर थी कहते हैं गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि बेहतर संतान हुई नारद जी से बनी हुई सुंदरी के वर्द होगी बहुत फूली नहीं समावे खुली खुली खूब अब मेरी बेहतर संतान फिर क्या हुआ कि वो मरनी शुरू होगी एक साल में दो मरी अगले में तीन मरी अगले में चार मरी फिर एक राजा ने झगड़ा कर दिया वो सारी खत्म हो गई पति बिगा अब वो पागल की तरह अपने बालों को पाड़ती हुई नोचती हुई बुढ़िया दौड़े बाढ़ और नो सचिव तो जी का करेगी के जा करके नदी में आत्महत्या के लिए छलांग लगा दी और उसमें छलांग लानते फिर नारद जी लकड़े है नारायण नारायण करता हुआ और विष्णु भगवान सामने खड़े खड़े मुस्कुराए हैं नो कहे भाई नारा आ, क्या नाम है नारद जी तंता तो भाई कति प्यासा मार दिया रहा इतनी आण का काम था यो इसका अच्छा था तो मैंने पी लो पानी अब नारद जी सोचे यू के पंगा हुआ अब तेरे जी ने के साका था कभी तो बुढ़िया थी तेरे बालक थे कोड को बदोगी फिर वो जाएंगे विष्णु भगवान ने बोला रन्यू क्या था मनु माया जीत ली नारद जी रो पकड़ कर पार छक्कर होया ने बोला महाराज जी छोटी सी बात की ओड सजा ने बोला बेटा या सजा ना दो ना तो कति बर्बाद हो जाता यानी अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा राक्षस है अभिमान दोष है ये जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस अभिमान को खत्म करने के लिए <clears throat> हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब ने दंडौत प्रणाम चलाई लंबे लोट के इस अहंकार रूपी राक्षस को खत्म करने का सबसे आसान और उत्तम साधन यही है <clears throat> इसका अनुसरण कबीर साहब के शस नानक साहब ने सबसे ज्यादा करवाया नानक साहब की परंपरा में आप जाइएगा दंडोत प्रणाम के बिना वो बात नहीं करते जब भी गुरुद्वारे में जाते हैं सबसे पहले बहन बेटी सब कुछ और भाई लंबे लौट कर दंडौत करते हैं और संतों को भी ऐसे ही करते हैं पंत साहब के पंथ में भी दंडौत प्रणाम है लेकिन कई भाई नो कहे कि हमारे पर जो क्या नहीं जानता अरे यू हमने अच्छा नहीं लागता यह सबसे बूढ़ी चीज ये लगा है कि लंबा लोटे आज तो ठीक से भाई अभिमान वश कति नहीं लौटा के आंट लाग रही से कल ने अदरंग मार जाता है टांग टूट जाती है और पड़े पड़े बांगी तो मुंह हो जागा क्यों तो पहला तो शर्म आवत ही लंबा लोटती है ना अब टट्टी पेशाब महा लकड़े बांगी नाड़ करके अन्य मांगेगा पानी लकड़ेगा कि मैं मुंह मत उस समय तेरी मरोड़ और यह ठाड़ और कित तो जागी बीरा उन दुखों से बचने के लिए फिर सारी उम्र गदा बनकर लंबी डंडौत करता रहेगा चलता भी रहेगा पशु भी बनेगा थोड़ा तेज करवाई पशु भी बनेगा और डंडौत प्रणाम भी करता रहेगा और बोझ भी डोएगा जब इस दुख ते बचना चाहे से तो भाई इब मौका से इस मनुष्य रूपी इस माटी का केत अभिमान भी रहा और केश का गुमान जो ईश्वर ईश्वर सब कुछ मान रहे हैं तो वो कभी सुलझ नहीं सकते हमने कई पंथी देखे दूर ते अपने जो पंथ में चले हुए नाम का उच्चारण करते हैं और न्यू करेंगे ऊपर ते बस न्यू कर कर नाड़ ऊपर करते हैं तो इस प्रकार हमने अपने उसको देखना होगा कि किस में फायदा और किस में नुकसान है जब तक हम इस बात को यथार्थ नहीं समझेंगे कि हम इस बिना काम नहीं चलेगा तो हम फिर शर्म नहीं मानते फिर शर्म खत्म हो जा सकते और शर्म जब तक खत्म नहीं होगी इतना भक्ति नहीं कर सकते कभी गरीबदास जी महाराज कहते हैं लोक लाज ना कीजिए भाई निर्भय हो रहिए ये मन साधा दीजिए तो गोविंद पाइए ये मन संतों को दीजिए यानी मन दे पाचा जिस पर जिस प्रकार गुरु मार्ग दर्शन कर वैसे कीजिए उसमें कोई भी आप थोड़ी सी भी ना करिए तब आप मुक्ति के की तरफ प्रशस्त हो रहे हो कहते यो मन साधा दीजिए त गोविंद पाइये भाव सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे भाव सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे और बहोर आव ही फिर मुक्ता पद पावे ऐसे हरिजन संत है संगत नत की जय अरिश भाई झूठे जग की लाज में ना ही चत दी जय ये संसार झूठा है अब यहां तो नमस्कार करते हैं भी काली मान है और हमारी बहु बेटी गोबर है सारा दिन जब शर्म की जा यानी बिना हुई शर्म को तो शर्म मान लिया अपने जो अर्थ वहां क्यों नहीं मानते कि टोटा उनता दिख है और यहां क्यों नहीं मानते हम क्यों नहीं मानते हमने ये नुकसान उनता दिख है हमने इस नुकसान का पता चल गया उनको उसी नुकसान का पता है कि गोबर भी कुछ काम आवे गुपले बन जावे बहुत लाभ देवे तो इस प्रकार जब हमने यह जानकारी हो जाएगी तो हम कति काली नहीं मानेंगे कहते हैं यो जग बदला धुंध का मीन है ना डरिए अब को समाज के लोग कह भी दें सर तुम अच्छे बोलो तो मुंदे पड़ोसो कहें जा इनकी नहीं सुने अब दारू पीवे उसने भी दोनों कहनी पाँव जाएंगे पीण दे तेरे के घर तय पीवे सर यानी उसको बुरा भी नहीं कहेंगे फालतू पाऊं क्यों उस द्वारा गुटी वो भी लिया का दिवे तो इसी प्रकार यहां समाज की नहीं सुने अपने गुरुआ की अपने संतों का अनुसरण और मार्गदर्शन करें मार्गदर्शन के अनुसार चले तो फिर कहते हैं कि ये जग बादल धूंध का मीन ना डरिए जैसे धूंध के बादल तक बारिश नहीं होया करे धुमासा हो जाएगा और कति घुटिया दिखे जाएगा ये जग बादल धूंध का मीन ना डरिए और जय मन चावे राम ने तब दस सातन करिए अब दास की की परिभाषा हो सही ध्यान तो सुना करो जब तक हम दास की परिभाषा को नहीं सुनेंगे अर नहीं समझेंगे इतना हम दास नहीं हो सकते नाम बेशक दास तरा ले जैसे पहले भी बताया था आपको कि एक राजा ने अपना बताया इब्राहिम सुल्तानी जबकि पहले राजा था यो राज छोड़ गया था आगे बताएंगे इसकी पूरी वर्णन आपको नो कहा था मैंने एक नौकर दास पहले दास मोल लिया करते दास लिया उससे मैंने प्रसन्न किया के भाई तेरा के नाम से उन्होंने बोला जी दास का कोई नाम नहीं होता जो नाम आप जिस नाम तक कह दोगे मैं बाज जाऊंगा चाहे मन बूंदा कही हो चाहे मैंने काना हो चाहे मन कचकोले आला कहिए कुछ भी कह दियो मेरा कोई नाम नहीं आप जो कहोगे वही मेरा नाम सिरोधार्य होगा फिर बोला भाई के खाया करे अगदास की कोई इच्छा नहीं होती जो आप खान ने दे दोगे जूठा टूक कहोगे वो भी खाकर मैं गुजारा करके आपकी सेवा करूंगा कहने लगा ये बातों से मेरे अंतकरण में बहुत खटक लगी फिर मैंने पूछा भी तू काम के कर सकता है अक जी ये आपकी इच्छा पर निर्भर है आप मेरे से के काम लेते हो मेरी कोई इच्छा नहीं आप जो हुक्म करोगे मैं वही करूंगा और कुछ नहीं कर सकता तो कहता मैंने उस बच्चे की उस दास की ये बात सुनकर आत्मा मेरी रो पड़ी और उसको मुक्त कर दिया कि जा भाई और ये तनखा ले जा तो भाव ये कि हम दासा तन निर्णय नहीं दा, नाम धरा लें दास और भाई पानी के पिए बिना या क्यों कर बुझ जा प्यास अर्थात दास नाम है तो दास की तरह ही हमने रहना होगा दो गाड़ी दे जाना जब भी से ले अच्छा भाई और नीच कह देख नीच तो साए और मारा दरस तो भी के यानी अगले की नब्बे प्रतिशत गुस्सा उसी समय समाप्त हो जा हाथ जोड़ दे भाई जो कर कहेगा न्यू कर लेंगे तो वो मतलब समाधान है और थपड़म थपड़ा लट्ठम लट्ठा गोलिम गोला होकर फिर मानसाते ही मर जाएंगे आखिर में फिर वही समाधान है आथे जोड़े राजी में फैसले होया करें तो महाराज कहें तुम पहले कर लिया करो अपना पाछे क्यों करे जब नाश भी हो ले जबकि तब ईमानदास अब चार चार आदमी दोनों तरफ से मर जाते हैं और फिर विराजी नामा और फिर भाईचारा दोस्ती होती देखी हमने तो बंदी छोड़ के हैं अगर पहले ये भाव आ जाते इतना नाश नहीं हुआ है तो ये दासातन से बना करे और दासातन सबसे पहला लक्षण अपने संत का भगत का होना चाहिए तो इस प्रकार कहते ऐसी माया नारद हाँ फिर कहें कि ये जग बदला धुंध का मीन है ना डरिए जय मन चावे राम को तो दासा तन करिए फिर कहा कि आथी भय माने नहीं जय सवान भुकाही हाथी हस्ती कुत्त्या तनी डरदा जे सबत गांव के पूरे गांव के कुत्ते भौंकते हुए गिर लाग लो उनकी तरफ देखता भी नहीं आती उसने बेरास है कि ये दस फुट दूर रहेंगे त्रेत नजदीक नहीं आ सकते इनका इतना बेहोश है और आ भी गए को जल्दी सी करके तो मुंह में पा आवे न दांत गढ़े क्यों इतना सख्त उसका शरीर होता है और फिर नो दिखे कि एक सूंड मारूंगा तो दस मरेंगे इतना निर्भय हो जाता है और भोंकते रहो हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते कहते हैं ये हस्ती भय माने नहीं जय स्वान भुकाही भाई सत्संगी संग ना तय चतराम बसाही अपना जो प्यारा परमात्मा का है अपने गुरु के वचनों को सतगुरु की महाराज की वाणी को मन में बिठाए हुए और सत्संग नहीं छोड़ उन आम व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तियों के कहने से जिस समाज में हम रहते हैं तो वो तो है सत्संगी हाथी हाथी अस्थि भय माने जय स्वान बका भुकाही सत्संगी संग ना तजय चतराम बसाही फिर कहा कि स्वान रूप संसार है कुछ करसी नाही और शीश महल ने देख के यू भौंक भौंक मर जाई शीशे के महल का आगे कुत्ते ने खड़ा कर दे सांझ तई मरका हटेगा उड़े मड़ा है नोन जागा फेरा होगा फिर भौ भौ भौ दूर देखे जागा सामने भी भौ भौ करता दिखे तो वो शाम तक मर सकता है तो भोंक भोंक मर जाए ये समाज भी आपको दो चार दस बार कहेगा अरे ओका भी छोड़ दिया तड़का रोटी भी छुटाऊंगे छुटाओगे त्रीता तो। कहीं जाओ कति नहीं गौड़े और जब दस पांच साल में जब ये आपका प्रफुल्लित होगा पर फलीभूत होगा सत्संग तथा धर्म और ये नाम आपके घर में जो सुख होगा रोजाना का वह खड़े खड़े देखा करेंगे आपको सच बताऊं एक औरत विधवा होगी और उनके पड़ोस में एक महाराज कबीरपंथी साधु आकर रहने लाग गया वह उसकी उन्हें सोची और तो साधन कुछ है नहीं बुढ़ महाराज की सेवा कर वह उसमें उनके पास जान लागी रोटी का टूका की दूध की पानी का छोटे मोटे बच्चा ने भी ले जा अपने और समाज उसके अड़ोसी पड़ोसी भाईचारा था चेत उसके तीत श्रेय दोहना जेठ देवर लाठी ठावर रोज वह पीक टीवी कुछ भी कराने वाली मैं अपने उद्देश्य से नहीं छोड़ सकती क्योंकि सत्संग ज्ञान हो गया उसको आज उसके तीनों लड़के नौकरी लगे हुए और दूसरे दूसरे के पागल होंगे हंड आपको प्रमाणित बता सकता हूं ये गांव घर में नाम नहीं लेना चाहता किसी का वो हमारे रिश्तेदारी में पड़ते हैं तो भाव ये है कि आज उसका तो वो सुखोरे तीनों लड़के नौकरी पर बहुत सुथरा काम चल रहा है अर्जुन से चौधरी पाक रहे थे अर्जुन के लड़के वो पागल हुए हांडा से कई तो उनमें और नेपाली लागे फिर तो ये सतकर मान लेना देखो नो तो सैनिक आज बीज बोया सर तड़के उसका बाल लाग जाएंगे ईसा तो आज तक ना हुआ ना होया जब गेहूं की फसल इतनी मेहनत मान मांगे है और फिर वह हुआ से इसी प्रकार हमने विश्वास रखना होगा कि होगा तो इससे विधि से जो हमने यह अपना राखी से तो इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं जन रह दास कबीर कमाला दरु पर लाद और कबीर कमाला रहे निशान घुराई दास गरीब चरण का चेरा भाई शब्द शब्द समाई यानी नाम लेके और नाम का छक्का सुमरण कर ले उस नाम से आप उस सार शब्द में समा जाओगे शब्द रूप हो जाओगे यानी शक्ति आप में पूरी हो जाएगी और जब पूरी शक्ति यानी शब्द रूप हो जाओगे तो सतलोक पहुंच जाओगे दास गरीब गलतान में शब्द शब्द समाई तो इस प्रकार सत्संग सुनाया गया कि भी परमात्मा के नाम के बिना कहते हैं गरीब सब रावण पति राव है जिसका रोम रोम धन हो और नाम खाली सांस खाली नहीं नाम बिना वो छत्रपति है सो कबीर साहब कहते हैं कबीर सब जग निर्दना भाई धनवंताना को धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो फिर बताया कि गरीब सत्संग के अंदर हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है सत्संग में बताया कि मन तो सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा जसरे कहते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम एक पलक में राज विराजी वह जम के पड़े जंजीरम रावण के से ठाठ शायद किसी के होंगे और एक पलक में राज से विराज हो जाना बिन विहीन हो जाना यानी राज से विहीन हो गया और कुत्ते की मौत मरिया और नरक में गया अब यहां कई भाई नो कहे हैं कि रामचंद्र जी आना रावण मर गया था उसके हाथ में और नो कहे वो स्वर्ग में जा क्योंकि हे कहता रावण की अपनी वाणी कि मेरा बहुत अच्छे भाग से मैं आपके हाथ में मरिया और स्वर्ग में जाऊंगा तो बंदी छोड़ने कहे ये सब भूल भुलैया से अगर राम के हाथ ते स्वर्ग मिलता तो सबसे पहले अपने कुंडबे मारो रावण ने की जरूरत थी उसको मारकर इसे बुंडे को वो दीनर स्वर्ग में भेजे तो बात यह है कि हम अपने हिसाब से अपने सेटिंग कर रखिए बंदी छोड़ने सारे पवाड़ से पाड़ रखे हैं परंतु हम इनको क्रिटिसाइज समझते यथार्थ बात को तो फिर क्या हुआ कि सर्व सोने की लंका होती रावण शेरण धीरम एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम फिर कह उदय अस्त भी चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई और चुणक ऋषि सर कलप करी तब खोज न पाया राई एक चक्रवर्ती राजा था चकवे बैन सारी पृथ्वी पर राज्य था और कुबद उठी कि घोड़ा छोड़ दिया मेरे घोड़े ने जो पकड़ेगा उसको उसने युद्ध करना होगा बेहतर अक्षौणी सेना कौरव पांडुआ की दोनों की ठारह अक्षौणी थी उसकी अकेले की बेहतर अक्षौणी बताते कौन छेड़े इसे ऊंडे झगड़े मपा कौन दे किसी ने नहीं पकड़ा घोड़ा वापस आ रहा था साथ में सिपाही थे फौज थी चुनक ऋषि पूछने लगा भाई कहां गए थे किस उद्देश्य से घूम रहे हो वो कहने लगे कंगाल तेरे बस की बात ना है तेरे मतलब का सौदा ना यू राजा का खेल से अब चुणक ऋषि इस बात ने महसूस कर गया कि ये भी मानी बहुत हो गए सूर सिर बोलते भी नहीं न बोले भाई कि फिर भी पूछते लिया है करें सा के जुलम हो गया एक बोला उनमें से फौजियों मत है कि हम सारा घूम आए हमारे राजा का युद्ध किसी ने नहीं उठा तीसरा कहने लगा कि युद्ध कैसे उठे जाड़ फोड़ जा यानी जब ओड़े लागे जब ये वचन लिखड़ा कर राजा ने सोचा कि कतियत पाख का अभिमान इनमें पूरा जामा हो गया न बोला भाई मन ने पकड़ दिया यू घोड़ा और युद्ध ओट लिया न बोले रा कंगाल तेरे बदाने ने नहीं और युद्ध चक्रवर्ती राजा चकवे बहन का आखा बांध दे घोड़े नड़ उन अठे बांध जाओ तो उड्डा टो थे बांध के न बोला तेरी समारांगे बजा लेने दे राजा दो राम अब जा भाई बांध के घोड़े के नए वृक्ष कर चले जाते हैं राजा से बताते हैं राजा उन सभी को बद्दी उन्हें सोची कि आज तेरे घोड़े ने एक न पकड़ लिया तड़का दूसरे की भी मत होगी अठारह अक्षौणी सेना भेज दी उसे एक व्यक्ति को मारण खातिर दो चार भी बतेरे थे अठारह अक्षौणी उसने कति खत्म कर दो डुंगारे बजा दिए मार के रखे के पगन उतार दिया राजा कहते हैं उस सुनक ऋषि ने चार पुतली बनाई एक छोड़ दी कहते अठारह अक्षोणी का चरबन कर गई फिर इस प्रकार चार टुकड़े बना रखे थे राजा चकवे बहन चारों के चारों चार पुत्रिया ने खत्म कर दिए और वो राजा भी नष्ट हुआ कहते उदय अस्त उदय के सूर्य निकले अस्त जहां छपे वहां तक राज्य था अर्थात सारी पृथ्वी पे उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई चुनक ऋषि सर कल्प करी फिर खोज न पाया राई पीछे ईशे होकर चले गए बिरा बिना नाम के कुबद्दी चाहे कितना सारी सृष्टि का राज्य हो जाओ संत उसको कुबद्दी कहते कुबुद्धि फिर जिनको बुद्धि अच्छी नहीं होती उनको कुबुद्धि कहते जो सतमार्ग नहीं पकड़ते फिर बताया कि ग्यारह अक्षोणी संघ चले थी आ दुर्योधन से राजा होते संग इकोत्तर भाई कदे को सोचा बड़ा परिवार हो जा लठाणी पांच सात गांव न मोल ले लिया आखिर में ऐसी दुर्गति हुआ करे जो कर दुर्योधन की हुई कि ग्यारह दुर्योधन से राजा होते संग इकोत्तर भाई और ग्यारह सोनी संग चले थी फिर देई गीद ना खाई उस दुर्योधन की देही को गीदड़ा ने भी ना खाया यानी गीदा ने भी नहीं खाई पशुओं ने भी नहीं पक्षियों ने नहीं खाई क्यों नहीं खाई इतना नीच हो चुका था वो पक्षियां का भी काम नहीं आया उसकी मां की दृष्टि से शरीर पत्थर का हो गया था बज्र का हो गया था अर्थात उसको खा भी नहीं सकते थे इतना भी गुण नहीं लेकर गया पुन वो के कोई पशु पक्षी खाकर दुआए दे देता यो पुन भी उसने मिल जाता फिर कहते हैं कि साठ हजार सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए और एक का पुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए एक भगत था उत्तान पात का उसके बाप का भी नाम रोशन और वह आज सूर्य वस्तु को और उपाधि को उसने प्राप्त कर लिया तो इस प्रकार भक्ति और ना भक्ति करने वाले के गुण बताते हैं फिर आगे बताया कि हाँ, प्रहलाद कहते हैं राम नाम प्रहलाद पढ़े था हरणा कुछ नहीं भाई राम नाम प्रहलाद पढ़े था हरणा कुछ नहीं भाई और नरसिंह रूप धरे नारायण फिर खंभ पाड़ का अर्थात भगवान की भक्ति कोई तो करता नहीं करण लाग जाता फिर हम करण नहीं जनते एक आदमी लाग जाएगा तो और लाठी ठा लेगी क्योंकि गीतों तो रोज सत्संगी हो गया तो बालक पढ़ने से कि नहीं पढ़ने से तो किसा हो रोज सत्संग मार नू सर फिर बैठ जा किताब लेकर कईया ने तो प्रमाण दिया न बोली मैं कुएं में पड़ जाएंगे जब तू पढ़ेगा तो या किताब है उसने भक्ति छोड़ दी बताओ था ना बोला जी अच्छा मुकदमा मेरे जी ने तो घर और उजड़ेगा मैं कहा भाई ठीक क्षेत्र खोटे लाग रहे हैं कितना उजड़ा हो तो ला गया रहे तो तो बात ये है और आदमी लाग जाए औरत लाग जाए तो आदमी ने होगा जी तो मार दूंगा जा तो बाहर लकड़ गीत है तो या मतलब कार्ड ने पूरी व्यवस्था बना रखी भजन ना कर लो और चाहे कुछ भी करो ये बूढ़े गीत गाओ बहू अपने घर चाहे किसी पड़ोस का जाकर गाया हो नाचे जाओ पर सत्संग में नहीं चला था कालदम बेरास है कि एक बार यू भगती पर लाग गया तो तेरे हाथ से निकल जाएगा सतगुरु की शरण में पहुंच गया बंदी छोड़ की मैं क्यों सत्संग में जानिया कदे न कदे कभी ठह जाएगा जो ते नहीं निकलेगा तो जागा की थे तो आम सत्संग में भी रोक दे सो और सतगुरु वाले मत करड़ी आगे जो है ना पूरी फाटक बंद करे से वन भी जीव नहीं निकल सकता उपदेशी हमारे है ना उनको भी रोकने की कोशिश कर जाने बेचार करें जाएंगे तुड़को देखोगे परसों देखोगे और उड़ा चाहे उससे ज्यादा दुखी हुआ रहा वो न सोचा नो काम कई यार बताई न बोले जी हमने हरकत करी थी एक दिन सोची तड़का तो जाएंगे एक रिश्तेदार आ गया ने बोला चार दिन में पांडा छोड़ा उड़ा चाल मरी मेज खुरी से उसके लांडे गया दो रथ करा भी भरा और चौथा दिन आया रोटी पलत खुआंदा उसने उस दिन पाछे ने बोला मैं तो नहीं सोचू भाई बंदी छोड़कर चाल के मैं यू तो पांडा छूटे ना तो और को आओगा के लड़ या नो की नो बनाए कूड़ा हंडे जाएंगे राजी होगा पर सतगुरु शरणकानी नहीं चाल सकते यहां तो बहुत भगवान जीवा होगा बहुत सुथरे कर्मों का ये सतकर मान लियो आज आपने बात चाहिए अच्छी लागो चाहे मतलब तो फिर बताया कि <clears throat> नामदेव नाम निरंजन राते जाकी छान छवाई जैसी काल बताई थी और एक पलक में देवल फेरा व मृतक गऊ जवाई तो इस प्रकार आगे बहुत लंबा प्रमाण प्रमाण है फिर महाराज बताते हैं कि काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई जहां के सौबण जारा उतरा नौ लख बाल जो से कल आपको बताई थी कि भंडारा किया था नौ लख बैल नौ लाख बैला का ऊपर केसो नाम का वनजारा और एक गुण भर भर लिया था और तीन दिन तक अठारह लाख व्यक्ति जिम्मे थे तीन दिन रात जब वो बन जा रहा तो ये शब्द हम रोज गाते हैं वो इस समय गाते हैं आया है आया है के सो आया काशी लाया माड़ पारा केशो आया है आया है आया है बनजारा केशो नौ लख बॉडी भरी दिसंबर नौ लख बॉडी दिया कबीर भंडारा के सौ आया है आया है आया है बण धरती ऊपर तंबू ताने धरती ऊपर तंबू ताने चौपड़ के बेजारा के सो आया है आया है आया कौन देश से बालद आई कौन देश से ना कहीं बंधा नवारा के सो आया अपरम पार पार गत तेरी अपरम पार पार गत कित उतरी जल धारा के सौ आया है आया साहूकार नहीं कोई जाके साहूकार नहीं कोई काशी नगर मंदारा के सो आया है आया दास गरीब कल्प से उतरे दास गरीब कल्प से आप अलख कर तारा के सौ आया है आया है दास गरीब कलप से उतरे दास गरीब कलप आप अलख कर तारा के सौ आया है आया है इस प्रकार सतगुरु महाराज ने बताया कि मंदा हो गया भाई इस प्रकार कहते हैं कि काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई जहां के सौ बणजारा उतरा नौ लख बालद आई नौ लाख बालद आई फिर महाराज कहें कि नौ लख बालद आई फिर कहें कनक दिनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा कनक सोने का जैसे आपको कल रविदास जी के बारे में बताया था सोने का जनेऊ अपने कांधे में दिखाया जहां पर सात से ब्राह्मणों ने महाराज की रविदास के चरण दिए और शस हो गए थे और सवामण जनेऊ तोड़ा था जो कच्चा सूत बांध रहे थे अपने गला में गला में उनको तोड़ के गिर दिया और यथार्थ मार्ग पर लाग गए यानी ज्ञानी इनको कहते हैं वो यथार्थ में ब्राह्मण थे वो पंडित थे जिनको ये बात समझ में आ जा वो विद्वान होता है कि भी इस बिना काम नहीं चलेगा ये दो दिन के चोचले से तो विद्वान कहलाते हैं वो पंडित कहलाण के अधिकारी हैं जो बात में समझ जाए तो कहते कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा दास गरीब कौन गत पावे वो मग हर मुक्ति दिलासा कि उस बंदी छोर कबीर साहब की कौन महिमा जान सके जो बघर में जाकर जहां पर भगत जन पंडित जन कहा करते वहां मरने वाला नरक में जावे वहां जाकर बंदी छोड़ सतलोक में गए तो दास गरीब कौन गत पावे मग हर मुक्ति विलासा के मुक्ति का जो सुख वो हर में जाकर मुक्ति पाए और वो सुख विलास किया तो इस प्रकार सत्संग में बताई जाती है फिर क्या बताया जाता है मानत ना मन मोरा साधो मानत नाम मोरा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे बार बार मैं ये समझाऊं ये कभी घट जाए कभी बढ़ जाए कभी मंद हो जाए मानत ना मन मोरा सा मानत ना मन मोरा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जी रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जी इस काया का गर्व न कर के काला के गोरा रे इस काया का गर्व न के काला के गोरा बिना भजन कुछ काम न आव चाहे एत्र छड़ को चारो ओरा रे बिना भजन कुछ चाहे एत्र छड़ को चारो ओरा रे मानत ना मन मोरा साधो बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे बार बार मैं ये इस माया का गर्व न कर के हाथी के घोड़ा रे इस माया का गर्व न के हाथी के घोड़ा बिना भजन जोड़ जोड़ धन बहुत बेटोड़ा लाखों और करोड़ा जोड़ जोड़ धन बहुत बेटोड़ा लाखों और करोड़ा रे मानत ना मन मोरा मानत ना बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे बार बार मैं ये दुविधा दुर्मति चतुराई मैं जन्म गया नर तोरा रे दुविधा दुर्मति चतुराई मैं जन्म गया नर तोरा अब भी में लो सतसंग करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे अब भी में मिलो सतसंग करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे मानत ना मन मोरा साधो मानत ना मन बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन छोड़ा रे बार बार मैं ये समझा हूँ जग में शरण पड़े को गुरु संभाल जान कबाड़क घोड़ा रे शरण पड़े को जान कबाड़क घोड़ा रे कह कबीर चरण चतरा खो जो सोई मैं डोरा रे कह कबीर चरण चतरा खो जो सोए मै दो ए मानत ना मन मोरा साधो बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन सच अभी आपने सुना कि इस काया का गर्भ ना करियो के काला के गोरा रे ये कुछ सौदा नहीं बिरा बंदी छोड़ बताओ है कि ये काल ने हमें ऐसे अभी काल के बारे में जानकारी देंगे आज आपको समय रहा तो जब ज्ञान होगा कि हम कीतुड़ जे बैठे हैं इस काल ने हमें बड़ो व्याख्या से या चामड़ी भूरी और काली रंग के ऊपर तय थोड़ा सा रंग कर रखा है किसी का काला किसी का गोरा और भीतर इसमें एक सा कुबाड़ है चाहे वो गोरा से चाहे काला से क्या इसमें भरिया पड़ा से कुत्ता मरिया हुआ देखा मैंने एक्सीडेंट के अंदर आप भी देखते हो रोजाना आंत उसकी इतनी दूर तक खिंडती जा रही और उसका चमड़ा जो है जमीन पर सड़क पर जमया हुआ पहियों से या तो मतलब यातायात की और यू एक बाड़ अपने अंदर से ज्यो का त्यो कति फर्क नहीं पर ऊपर ते इसे बड़ो रखे हैं कि इतना प्यारा शरीर ओह चला गया तो बिराना त्रिगेल के बनेगी यू भय बाढ़ रखा ये भी बस की बात नहीं क्योंकि ये कि ये जीव इस किसे रहित नहीं हो सकता जब लग पूर्ण श्रम की शरण में आकर भक्ति का प्रभाव इन विकारों में दबा नहीं देगा तब यू निर्भय होने लगेगा और चेतनता आवेगी यथार्थता का ज्ञान होगा कि एक दिन जाए तो सरे से बीरा रो ले चाहे पीठ